वो नहीं मानते बड़े हो गए आपके अधिकार में नहीं है तो कोई बात नहीं आप अपने तन को दूसरी जगह लगाओ मोड़ दे दो और उससे कुछ मानव निर्माण होगा ये नहीं हो सकता हम जो ये कार्य करते हैं ये सब परिवारों से मिलकर सहयोग मिलता है ये उनके बच्चे तो नहीं है न होने पर भी ये बालक बन गए इतने ये जब बने के सब लोगों ने सहयोग दिया नहीं देते थे सहयोग नहीं बनते इसलिए ऐसे सोचने का ढंग बदल दिया जाए और याद रखो कई बार अब अपने काम करने के क्षेत्र में कुछ बात बताता हूं आपको स्वयं को संगठित रखना मान के चलते आप और हम ब्रह्मचारी आचार्य और आप आर्यमन विकास के अधिकारी सब सदस्य मिलके चलते मिलके चलने में कुछ ऐसे नियम है उनको हम ठीक रखें तो हम मिलके चलेंगे यदि आप उन नियमों को भंग करेंगे या हम करेंगे तो हम मिलकर नहीं चल पाएंगे परिणाम जो कुछ हो रहा है ये भी नष्ट हो जाएगा परिणाम ये होगा इसके ऊपर बहुत ध्यान दो कोई भी बात हमारी जब हम मानते हैं या समझते हैं उस समय वो बात आती है जो विघटन उत्पन्न करती है उसको सामने रखो कि ये बात आपकी ओर से आई आपकी बात हो तो हम आपको कहेंगे आपकी ओर से ये बात आई है ये सत्य है झूठ है तो आपसे सीधा पूछेंगे सीधे बैठ के बात करेंगे वो कितनी आई कैसे आई उसको सुलझा लेंगे हमारी ओर से कोई बात आई आप हमसे बात करो सीधी किसी की नहीं सुननी आपने जब तक हमसे नहीं मिलते विचार नहीं करते किसी की बात नहीं सुननी आपने कि ये अपने यहां विद्यालय में ये हो रहा है ये दोष है ये त्रुटियां सारी आई सब कुछ आए उसको हमारे सामने रखना हम उसको ठीक ठीक बताएंगे कि ये त्रुटि हुई है या नहीं हुई है तो उसका समाधान हो गया विघटन कैसे होता है आपको किसी ने सुना दी जैसे आपने अभी देखा पिछले दिनों अब भी कोई पत्र आते होंगे कहीं वो लिखे गए बहुत भारत भर में पत्र लिखे गए भारत भर में जो पत्र लिखे गए वर्षों से सब कुछ हुआ और उसको यदि बिना देखे बिना परीक्षा के मान ले वहीं विघटन हो जाएगा ये ढंग विघटन का है बिगड़ने का ऐसे कभी नहीं सोचना चाहिए कभी भी नहीं मानना चाहिए बिना पूरे मिले सीधा संपर्क जोड़ो कि ये बात कैसी है कैसी नहीं फिर उसमें उसका करो ठीक और फिर उसके पश्चात मानने की बात आए फिर भी क्या करो कि ये त्रुटि ऐसे हुई है तो आगे क्या करें इसको ऐसे करो इसको ऐसा करके ठीक कर लो ये नहीं कि इसको करो हाँ त्रुटि हो गई है उसका प्रचार कर दो और ये करो वो वो भी गलत है त्रुटि हो जाए तो मानो फिर को सुधार दो बस वही समाप्त बात यदि हम ऐसे चलेंगे तो आपस में विघटन नहीं होगा अन्यथा यदि हम ऐसे नहीं सोचेंगे तो विघटन निश्चित है और विघटन का लाभ स्वार्थी लोग उठाते हैं विघटन से हमारी हानि होती है समाज की हानि होती है अपने संस्थाओं की हानि होती है इसके ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए तो आपको और भी कार्य होंगे <laughs> और हमको भी कार्य होंगे इसलिए विराम तो देना पड़ेगा ना तो ये मैंने इतनी बातें सबके लिए भी सुनाई विविध प्रकार से समझना चाहिए और ब्रह्मचारियों के लिए भी और ये जो ब्रह्मचारी यहाँ पढ़ते इनको हम बताते रहते कल भी बताया ये प्रकरण बहुत कुछ इनको ऐसे सोचने का ढंग अपना बनाना चाहिए और स्वयं को इतना तैयार करो आपको कोई मत वाला डिगाने से नहीं तो ब्रह्मा कुमारी जैसे में एक दो बार चले गए आप तो सुधांशु जी की जो गति है सो गति आपकी हो सुधांशु आर्य समाज के विद्यालय में पढ़े और आर्य समाज के उपदेशक अच्छा बोलने लग गए अब वो आर्य समाज को छोड़ के क्या बन गए महाराज बन गए और करोड़ों रूपये की संपत्ति मानी जाती है और बस ये गति आप सबकी होगी ये दुर्गति हो जाएगी एक अपने ब्रह्मचारी थे वहां ब्रह्मा कुमारी के वो बात कर रहे थे ओहो कितनी बड़ी कितने प्रबंध है कल्पना कोई कैसे करेगा मैंने कहा एक बात ध्यान से सुनो ये सब बहुत बड़ा है बहुत अच्छी व्यवस्था है बहुत भवन है इनकी विविध एक एक भवन में जिसमें बीस हजार व्यक्ति बैठ के आराम से सुने एक भवन इतना बड़ा पांच सौ फुट लंबा और ढाई सौ चौड़ा कल भी हम उसमें सम्मिलित हुए तो पांच हजार लगभग उपस्थिति थी वहां पांच हजार कल की बात है परसों की परसों की थी ना परसों की तो वो मैंने उस ब्रह्मचारी से कहा मैंने कहा देखो ये सब कुछ देखा आपने हाँ मैंने कहा मैं इन सबसे सुखी हूँ बताओ क्या बात बात मैं इन सारे इन ब्रह्मा कुमारियों से सुखी सुखी तो सारे है ये मुझ जैसा सुखी इनमें एक भी नहीं है ये ये इतने पत्थर ईट क्या करेंगे धन संपत्ति क्या करेंगे चेला चेली क्या करेंगे सुख ही नहीं मिला मैंने कहा मैं इनसे सुखी हूँ और ये क्यों हुआ ऐसा आपको बताऊं हमने एक एक पंक्ति पर आचरण किया है एक एक पंक्ति ऋषि क्या कहते हैं वो पत्थर की लकीर है जब मुझे बारह खड़ी आती थी लगभग मुश्किल से बारह खड़ी भी वो भी कठिन किसी से पूछी थी गाँव बारह खड़ी धरती में निकाल निकाल के कह कहा की की कु फिर बारह खड़ी बन गई आई आज और उसमें फिर डेढ़ वर्ष के पीछे संचार प्रकाश मिला था वैराग्य के होने के पीछे उसमें जो जो लिखा जो जो पंक्तियां लिखी संविधान लिखे बस हमने ये माना कि जो दिखाई बिल्कुल ठीक है ऐसा ही करेंगे हम इससे विरुद्ध किसी की बात नहीं मानेंगे और उसको फिर आचरण का रूप देते देते देते देते आज इस परिणाम पर मैं पहुंचा जैसा वैदिक धर्म के अनुरूप चलने से उसके आचरण में लाने से व्यक्ति की लौकिक उन्नति होती है और ईश्वर की प्राप्ति होती है ऐसा कहीं नहीं होती और हमको कोई भूमि का पूरा राज्य ही देने लग जाए और वैदिक धर्म को छोड़वाए तो छोड़ने के लिए तैयार नहीं कभी नहीं हो सकता क्यों आचरण में लाने से हुआ है जो वैदिक धर्म में आते हैं सुनते हैं आचरण करते नहीं कहते जी हमें कुछ नहीं मिला और वे महाकमा के जाते हुए स्वर्ग में चले गए आचरण करना नहीं और ये कह देना कि आर्य समाज में कुछ नहीं आर्य समाज में कुछ भले व्यक्ति ये मनुष्यों की ये देखा वो देखा किसी की क्रोधी व्यक्ति की बात सुनी आर्य समाज का क्या मतलब छह दस नियम एक काम सिद्धांत है वो आर्य समाज का ढांचा है आर्य समाज क्या है ऋषियों की मान्यताएं और उसके अनुरूप चल के देखो आपको जो सुख मिलेगा उन्नति होगी वो भूगोल में किसी के अनुसार चलने से उन्नति हो ही नहीं सकती तो हमने ये इसलिए मैं सुखी होने से सुखी होना ही सबसे मुख्य बात है दुख से छूटना सुखी होना और बात ही तीसरी है ही नहीं तो ये ब्रह्मचारी दिया ऐसा करोगे तो आप सुखी हो जाओ अच्छा बताओ तैयार हो आप करने के लिए तैयार है अच्छा ये बताओ आप में से जो निर्णय कर चुके आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे वेदों को पढ़े पढ़ाएंगे वो कौन कौन हाथ खड़ा तो करो कम से कम अच्छा आप सभी तैयार हो नीचे हाथ कैसे आया दिखाने से डरते हो अच्छा अच्छा अब आप विद्वान बनना फिर इनको आचरण में लाना फिर आपकी अनुभूतियां होंगी कि ये हमको सुख शांति मिले वास्तविकता हमारे पास आई आपको कोई प्रभावित करके अपने मत में नहीं ले जा सकेगा बल्कि आप औरों को अपनी ब्रह्मा कुमारी वाले जिसको पकड़े उसी को अपनी ओर खींच ले जाते हैं एकदम इतनी बातें कहेंगे इतनी बातें कहेंगे देखो ये है देखो ये ऐसा कहीं भी नहीं है ऐसे ऐसे प्रेम की मीठी भाषा बोल बोल के बोल ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बना लेते आप जाके देख लो जाके देखो एक दो दिन रह के पता चलेगा कैसे ये ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनाते हैं इतनी देर में चपेट में आ जाएगा व्यक्ति और इतनी योग्यता पहले हो वो नहीं आएगा तो अब विराम और सावधान हो जाओ अब बहुत आपत्ति आ चुकी है संप्रदायों की ओर से और बाहर के राजा शक्तिशाली राजाओं की ओर से और आपस के जो झगड़े हैं भारत में वो आपत्ति खड़ी है हमारे सामने और आप उससे नहीं बचेंगे तो उसी की चपेट में आके वैसे ही बन जाओगे आप इतनी शक्ति बनाओ हम औरों को आदर्श की ओर ले आए ले आए हम अवसरवाद की ओर पतन की ओर न जाए इतनी क्षमता योग्यता बनानी पड़ेगी याद रखना जब तक व्यक्ति ईश्वर साक्षात्कार करके दृढ़ नहीं हो जाता तब तक उसको गुरु का आदेश संदेश उसके अनुशासन में रहना पड़ेगा अन्यथा मार गया क्या समझे नहीं आया समझ में क्या आया जब तक व्यक्ति ईश्वर साक्षात्कार करके दृढ़ न हो जाए तब, तब तक, तक गुरु के निर्देश में रहना पड़ेगा नहीं तो मार खाए अब विराम गायन्ति त्वा गायति नो अर्चन्ति अर्कम् अर्किणः ब्रह्माणस् कृत्वा शतक्रतो उद्वंशमिव ये मेरे सम्मान्य विद्वदगण धर्म प्रेमी सज्जनों माता मनुष्य जीवन के निर्माण में एक समय है जब विद्यार्थी गुरुकुलों में आचार्यों के समीप जा करके विद्या पढ़ता है उससे पूर्व का निर्माण चिंता आदि करते हैं उस गुरुकुल में जब प्रवेश करता है उस समय उसका निर्माण अगला भाग होता है उसमें उसको प्रमुख रूप से तीन बातें सिखाई जाती हैं एक पठन पाठन की रीति दूसरी उपासना योगाभ्यास की रीति पद्धति तीसरी बात व्यवहार इन तीन बातों को आचार्य सिखाता उसकी रीति पद्धति बताता और विद्यार्थी उसको सीखता जाता है यदि इन तीनों को अच्छे प्रकार से सिखाया जाता है प्रशिक्षण दिया जाता है और विद्यार्थी अनुशासन में रह के सीखता है तो वो महान बन जाता है पठन पाठन कैसे करना चाहिए इसमें कितनी बातें होती हैं विद्यार्थी को सिखाया गया बताया गया ऋषियों के द्वारा कि देखो जब आचार्य अध्यापक गुरु विद्या पढ़ाते हैं तो उस काल में आत्मा को मन के साथ जोड़ो मन को कान के साथ जोड़ो और कान को आचार्य के शब्द अर्थ संबंध के साथ संबद्ध करो यदि विद्यार्थी इसी रीति से पढ़ता है तो उसको विद्या पढ़नी आ गई नहीं तो नहीं आई आगे बढ़ो पढ़ने के पश्चात पूरे शब्दों को पंक्तियों को प्रकरण को लेके उसको लगाता है जो शब्द पंक्ति प्रकरण में नहीं लगती अथवा शब्दों का अर्थ नहीं आता वो फिर आचार्य से पूछ उसके पश्चात उसी विद्या को अपने से नीची श्रेणियों को छोटी कक्षाओं को वो बड़ा प्रीतिपूर्वक पढ़ाता है प्रेम से पढ़ाता है बहुत से गुण हैं पढ़ाने में कैसे पढ़ाई पढ़ाया जाना चाहिए उसको सब नहीं जानते बोलना भी सब नहीं जानते काम चलाने की बात अलग है विशुद्ध रूप में बोलना विशुद्ध रूप में पढ़ाना ये अलग बात है कई बार पढ़ाते हुए विद्यार्थी ने पूछ लिया ये क्यों ये तो ऐसे नहीं नहीं ये क्यों हुआ फिर ये ऐसे अच्छा ये नहीं हुआ तो पढ़ाने वाले को क्रोध आज को धमका दी चुप कर दिया और पढ़ाते पढ़ाते पंक्ति नहीं लगी उसने सोचा यदि पंक्ति कहूंगा मुझे नहीं लग रही है तो कहेगा बड़ा मूर्ख है पढ़ाने बैठ गया तो उसका जो आता है उसके दिमाग में उसको स्वयं समझ में नहीं आ रहा उसके जो आया वो बता दिया इसलिए के मुझे मूर्ख न कहे लोग इसलिए उसने बता डाला इसका यह अर्थ है अब जानता है मैं मुझे ही नहीं आ रहा है वो इस बात से डरता है कि मैंने ये कहा यदि मुझे पंक्ति नहीं आ रही समझ में तो कहेंगे कि ये क्या अध्यापक है ये क्या विद्वान है इससे डरता हुआ वो तो ये अध्यापक के लक्षण नहीं है जब पढ़ाते समय पंक्ति नहीं लगी हमें समझ में नहीं आई जोर लगाने पर भी नहीं आई तो ये कहते हैं इसका अर्थ अभी लगा ही नहीं है संगति ही नहीं लग रही है मैं इसके ऊपर विचार करूंगा ये उसका भाग है आप पढ़ाते ब्रह्मचारियों को ऐसा नहीं पढ़ाते कभी ऐसा प्रयोग होता नहीं होता आप किसी विद्यार्थी को पाठ पढ़ाओ जो आपने पढ़े ये घटनाएं आपके सामने जो के त्यों आएंगे या नहीं आएंगे हम्म? आप क्या करेंगे आपको पता ही नहीं है तो पता नहीं क्या करेंगे आप इनमें से कोई न कोई दोष आपके पल्ले पड़ेगा उसे आप बच नहीं सकते अब दूसरी बात सुनाता हूं जो ध्यान से पढ़ते हैं उनकी स्थिति एक एक पंक्ति शब्द को लगाते प्रकरण को भी लगाते उनकी स्थिति और कुछ पढ़ते ठीक है कुछ आ गया समझ में कुछ नहीं आया समझ में पंक्तियां लग गई कुछ नहीं लगी और इतने से वो अपना संतुष्ट है आप कैसे चलते हो आपकी क्या प्रक्रिया पढ़ते समय एक एक शब्द लगाना पंक्ति लगाना प्रकरण के साथ जोड़ना और जब तक वो पूरा नहीं बैठे तब तक एडी से चोटी तक का लगाना एक और दूसरी वो मैंने बताई आपको कुछ आ गया समझ में कुछ नहीं आया समझ में पंक्ति लगी नहीं लगी प्रकरण के साथ संबद्ध है वो हुआ नहीं हुआ कोई चिंता की बात नहीं है वो पढ़ कर अपना संतुष्ट है आपकी क्या शैली है पढ़ते हाँ जी रणबीर जी दोनों इसके रहते स्वामी दोनों चलती हैं आपकी आपकी सुनाओ संतोष और निश्चित अधिक रहती है कौन सी जैसे बिना लगे संतोष अच्छा हाँ जी आप बताओ कैसी चलती है प्रयत्न करता हूँ पंक्ति लगा कैसी शैली आपकी चलती है इनमें से यदि पंक्ति नहीं लगती तो स्वयं प्रयत्न करता हूँ और आप हाँ, उसको मतलब छोड़ते नहीं हो नहीं और आपकी कौन सा इनमें दोनों चलती हैं या एक प्रधान है दोनों दोनों रहती है आप बोलो अपनी वर्तमान में तो स्वामी जी ये संतोष वाली स्थिति रहती है अच्छा इतना पढ़ लिया भाई ठीक है आपका बोलो दोनों स्थितियाँ रहती दोनों रहती पंक्ति नहीं लेने पर मैंने शंका तक कुछ पुनः हाँ हाँ जी आप बोलो पंक्ति न लगने में संतोष नहीं होता उसको लगाने का प्रयत्न करते वो आपका प्रधान है आपका जी है छोड़ते नहीं है संतोष कर ले तो आया जो आया हाँ जी पंक्ति लगा कर पंक्ति नहीं लगे तो आपका बोलो शब्द का अर्थ लगा ऐसे नहीं बोलो खिचड़ी की भाषा मत बोलो अक्षर शब्द पंक्ति सबको अलग अलग सुनाई दे मुख्य रूप से एक एक शब्द का अर्थ लगाने का प्रयास कर ये प्रधान है आपका हाँ जी जो पंक्ति नहीं लगती स्वयं पहले मनन करता हूँ हाँ हाँ न समझ में आया तो ये आपका प्रधान रहता है अब इस शैली को आप परिवर्तित कर दो विद्वान बनना हो तो स्वयं बनना हो और औरों को बनाने की पूर्ति करनी हो औरों को पढ़ाना हो तो ये शैली परिवर्तित कर दो अन्यथा आप अच्छे विद्वान नहीं बन सकते औरों को नहीं पढ़ा सकते एक बार अमेरिका के थे उनका नाम सतीश ही है कांगड़ी गुरुकुल में वो उपाधियां जो पढ़ते हैं उन दिनों की बात है तो योग दर्शन का भाष्य से ही तो उसको पढ़ाते थे ना जैसे तो फिर सुनते थे हम सुनते थे तो वो क्या करते थे पढ़े हुए को सारे को पढ़ के पढ़ने के पश्चात उसमें से दो तीन चार शब्द वो निकालते थे सुनाओ अच्छा सारा तैयार हो गया हाँ हो गया परंतु ये तीन शब्द नहीं लगे अब उसके सारे पाठ सुनने की आवश्यकता नहीं है यदि परीक्षा हो गई तो पता चला कि ये पूरे को लगाते हैं और जो शब्द रह गए उसको निकाल के रख लेते हैं कि ये नहीं लगा सारा नहीं सुनना फिर पढ़ाने वाले को पता चल गया सारा सुनने की अपेक्षा नहीं ये सत्य बोलते हैं सारा लगा करके तीन शब्द इसको नहीं आए वो पूछते हैं कुछ बदलोगे आप नहीं बदलोगे इस शैली को बदलोगे या नहीं बदलोगे ये बताओ हाँ बदले हैं ये समझ में नहीं आई बात अभी आप बताए बात समझ में नहीं आई आपको नहीं आई इनको मुझे नहीं आई कल्याण रेजारी को समझ में नहीं आई तो और बूढ़ों को क्या समझ में आई होगी <laughs> पढ़ते समय विद्यार्थी भाग अनेक हो सकते हैं मोटे दो रूप बताए मैंने एक विद्यार्थी पढ़ते हैं उसमें प्रकरण में उन्होंने दस सूत्र पढ़े दस पृष्ठ पढ़े उसमें से कुछ पंक्तियां तो लग गई और कुछ समझ में ही नहीं आई वो भी पढ़ डाली और प्रकरण में भी संगति नहीं लगी और वो संतुष्ट है मैंने पाठ पढ़ लिया एक तो ये शैली है एक ये है वो एक एक शब्द को लगाएगा पंक्ति लगाएगा पूरा प्रकरण लगाए बिना जब तक पूरा न हो जाए फिर अध्यापक से पूछेगा उसको संतोष ही नहीं है जब तक पंक्ति न रह जाए ये जो दूसरे पक्ष वाले तो विद्वान बन सकते हैं और उनको पढ़ा सकते हैं पहले वाले ना विद्वान बन सकते ना को पढ़ा सकते अब जो मैं पढ़ाता रहा इतने लंबे काल तक अब भी जो से पढ़ाते रहते उनमें से ये दोनों प्रकार के विद्यार्थी मोटे रूप में प्रकार और भी हो सकते हैं दो मोटे रूप सामने आते थे एक तो जो मैंने पहले बताया लग गया ठीक है नहीं लगा कोई बात नहीं आधा छूट गया कोई बात नहीं प्रकरण के साथ ही संबंध हुआ या नहीं हुआ अर्थ तो कर दिया सारे अर्थ करने पर भी ये प्रकरण के साथ भी जुड़ा या नहीं जुड़ा अर्थ तो कर दिया पंक्तियों का इसका ये अर्थ है इसका अब प्रकरण से वो विरुद्ध जा रहा है ये उसको कोई पता नहीं अर्थ होने पर भी प्रकरण के साथ संबद्ध ये बात हो रही है यानी जो प्रकरण चल रहा था जीवात्मा का प्रकरण था एक देशी है इच्छा द्वेष प्रयत्न वाला है और उस जीवात्मा के शादी का कोई संबंध नहीं जबकि प्रकरण वही है नहीं समझ में आया आ गया नहीं आया तो कल्याण दे की तरह पूछा करो नहीं आया नहीं आया तो फिर पूछो ऐसे अब उनमें से दोनों प्रकार के विद्यार्थी आते रहे ना जैसे आते रहे आते तो उनमें कुछों का नाम ले सकते हैं अरे उदाहरण की दृष्टि से लेंगे अपने उपाध्याय जी विवेक भूषण जी दर्शनाचार्य इनका ये पद दृष्टिकोण शैली पद्धति थी कि जब तक वो एक एक शब्द न लग जाए जब तक वो प्रकरण पूरा न समझ में आए और वो प्रकरण दूसरे प्रकरण के साथ वो जब तक संबद्ध न हो जाए तब तक उसको छोड़ना नहीं तब तक उसके ऊपर परिश्रम करना और उसके ऊपर पूरा जोर लगाना और कल्पना करो पूरे परिश्रम से नहीं आया तो मैं क्या करता था ये पंक्ति अब तक लगी नहीं है इसके ऊपर फिर विचार करें ये छूटी हुई पंक्ति तो वो योग्यता बन गई इस रूप में जिन्होंने नहीं ध्यान दिया इस रूप में उनकी वो योग्यता नहीं बनी पढ़ाने की योग्यता शंका समाधान की योग्यता संगति लगाना प्रकरण के साथ जोड़ना तो पढ़ा नहीं सकते प्रवचन में भी वही भूल वो व्याख्या ढंग से व्याख्या उस प्रकरण की नहीं कर सकेंगे कुछ आया समझ में बहुत लंबे इसके प्रकरण हैं उसकी रूपरेखा लंबी चौड़ी है पढ़ने पढ़ाने में क्या क्या कुछ हम करते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए पढ़ते हुए एक पंक्ति छुट गई प्रकरण में अध्यापक जी ने कहा यह पंक्ति अभी लगी नहीं है और उस विद्यार्थी ने जोर लगाया दोहराया वो पंक्ति लग गई और फिर विद्या कहते देखो गुरु जी से लगी नहीं थी मैंने लगा दी <laughs> ये बीमारी उसको लगेगी इस दोष के कारण उसका पतन हो जाएगा मिथ्याभिमान उसको आगे नहीं बनने देगा ये ये दोष ऐसे आते ये आया समझ में नहीं आया हाँ। ये तो सूक्ष्म क्रिया है बिल्कुल है ये तो बहुत सूक्ष्म क्रिया है सूक्ष्म का आपका व्यापार अंधेरे में चला जाएगा जब समझ में आएंगे आपको बात है <laughs> विद्यार्थी बन के देख लो सारी रूपरेखा आपकी छूट जाएगी वो जीवन घर पर धरा रह जाएगा अगला जीवन आरंभ और विद्वान बनना हो योगाभ्यासी बनना हो समाधि लगानी हो तो आपको ये दुनिया के काम रहे कुछ काम कर सकते हैं ये तो अलग बात है और ये विद्यार्थी बन के हाथ जोड़ के आपको पढ़ना पड़ेगा जब कब पता चलेगा ये सूक्ष्म विद्या क्या है इसको कैसे पढ़ते हैं इसके फिर व्यवहार में ये सब आ जाएगा नहीं तो नहीं आएगा मोटा मोटा पता है हाँ फिर से देखिए प्रकरण को ये स्थिति एक छुई मैंने ये एक तरंगे होती है व्यक्ति के अंदर ये अभिमान होता है मिथ्या अभिमान कि वो अब इसका दूसरा आचरा है देखो गुरु जी ने ये बात कही थी ये पंक्ति लगी नहीं थी अच्छा मुझे तो समझ में आ गई है पर अभी पता नहीं गुरु जी के सामने सुनाऊंगा मैं मुझे भी मैं मुझे मुझे भ्रांति तो नहीं हो गई है वो ये, उसने मानव निर्माण की शैली को पकड़ा दोष हटाया ये दोष नहीं आने दिया उनसे कहा देखो ये पंक्ति मेरे समझ में तो ऐसा दिखता है आ गई है और मैं गुरु जी से पूछूंगा और गुरु जी बताएंगे जब हो सकता है मेरी भूल ये हो रही और मैंने ऐसा मान लिया हो गया आ गई पंक्ति वो कहता गुरु जी मैंने तो इसको ऐसा पढ़ा मेरे समझ में ऐसा आया है उनका ठीक है फिर कहता ठीक है कोई अभिमान नहीं तो ये बुद्धि का उत्कर्ष नहीं दिखाने की बात तो ये व्यक्ति ठीक है और वो गलत है वो व्यक्ति देवा तो कितने ऐसे क्षेत्र होते हैं उनमें व्यक्ति कैसे सोचता है कैसे पढ़ता है और कैसे वो पढ़ाता है फिर औरों को और एक बात इतने क्षेत्र को पार किया हमने पहले गुरु जी से पढ़ा आत्मा मन के साथ फिर उसको एक एक पंक्ति को खूब लगाया जब तक वो शक्ति हमारे अंदर रही इतना जोर लगाया फिर वो पंक्ति छूट गई उसको रख दो और गुरु जी कहते हैं इसको मैंने लगाने का प्रयत्न किया है ये लगी नहीं है आप व्यवहार का भाग है वो कहता फिर आगे हम क्यों पढ़े इसको लगाओ नहीं तो मैं तो नहीं पढ़ता ये व्यवहार कुशल नहीं है व्यवहार नहीं आता इसको वो ये कहने लगे गुरु जी ये पढ़ाओ ये आपको नहीं आती तो आप गुरु कहां के हैं हम क्यों पढ़े आगे ये अड़ियल व्यक्ति उसमें अड़ जाएगा तो इसका जीवन खराब है इसको व्यवहार नहीं आता आप पढ़ेंगे तो आपके पास भी तो ऐसी पंक्तियां आएंगी जो नहीं लगेंगी जब आप कहां जाओगे मुझे ये बताओ आप सर्वज्ञ नहीं है गुरु जी भी सर्वज्ञ नहीं है जो सर्वज्ञ नहीं है तो भाई कोई ना कोई भूल आएगी वो सारी पंक्ति उसको लग ही जाए ये कोई आवश्यक नहीं है अब वो सर्वज्ञ की बात जोड़ के गुरु जी का खंडन करता तो आप पढ़ाने क्यों बैठे थे नहीं आती तो अच्छा उसने जो पाठ पढ़े आज तक उसको बुद्धिमानों से पढ़वाओ बुद्धिमानों को पढ़वाओ उससे और वो बुद्धिमान पूछेंगे वो नहीं बताएगा तो उसकी क्या स्थिति होगी तो ये सर्वज्ञ है तो बता इसको नहीं आएगी उसको वो आत्मवत व्यवहार नहीं जानता आत्मवत नहीं जानता उसको व्यवहार नहीं आता ये दोष आते हैं इस रूप में दोष आप सब में दोष विद्यमान होंगे किसी किसी मात्रा में या नहीं है ये दोष किसी में कम किसी में अधिक ये विद्यमान होंगे ये जो बताए जा रहे तो अब हम एक भाग को और लेते हैं एक भाग है कि जो हमने पढ़ा और फिर पढ़ाया पहले पढ़ा फिर स्वाध्याय किया और फिर उसको पढ़ाया तीन कार्य हो गए और फिर उसको हमने जो सत्य सिद्ध हुआ उसको मन वचन कर्म में उतारा मन वचन कर्म में नहीं उतारा गया तो यदि मन वचन कर्म में उतारने के लिए वो पूरा बल जोर नहीं लगाता अपने जीवन को उसके अनुरूप बनाने में जोर नहीं लगाता उसको विद्या नहीं आएगी कभी भी नहीं आएगी आंशिक रूप में आना और चीज अच्छी विद्या ऊंचे स्तर की विद्या नहीं आएगी शब्दों का विद्वान हो सकता है पंडित हो सकता है लेखक हो सकता है पढ़ाने के काम कुछ कर सकता है विद्या नाम की चीज जिसको कहते हैं वो नहीं आएगी एक परिभाषा लक्षण आप एक ही बात को ले लो आपने सुना सर्वथा सर्वदा है सर्वभूता नाम अनविद्रोह है सर्वथा सब प्रकार से और सर्वदा सभी कालों सभी प्राणियों के साथ वैर भाव को छोड़ के प्रीति से बरतना अहिंसा है ये आपने पढ़ा ये मैंने ओम और इसको आगे दौड़ोगे तो सर्वदा सर्वथा और मन वाणी शरीर से तीन को जोड़ो सर्वथा सर्वदा सब प्राणियों के साथ मन वाणी शरीर से वैर भाव को छोड़कर प्रेम से बरतना नहीं समझा फिर आगे बढ़ेंगे सर्वदा सर्वथा मन वचन कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करना श्रम लागू होगा जैसे अहिंसा में किया ना वैसे ही ब्रह्मचर्य में होगा वैसे ही सत्य में होगा वो देखता है मैं तो सर्वथा सर्वदा सभी प्राणियों के साथ पैर भाव तो छोड़ के नहीं बरत पा रहे हम तो और वो ब्रह्मचर्य का पालन भी नहीं पा इस स्थिति में ले जा पा रहा वो कहता है ये अविद्या तो जो कि तू मुझ में है अब वो ये देखता है जब वो ये कहता है कि मैं अभी इस विषय में विद्वान नहीं बन पा रहा हूं या नहीं बन पाया अब वो संघर्ष करता है और वो कहता है ये मेरे अंदर जो है विद्या है अब विद्यमान जिससे मैं अहिंसा का पालन नहीं कर पा रहा मन वाणी शरीर से सब प्राणियों के साथ इसको जब तक उखाड़ न दिया जाए बाहर न फेंका जाए और इसके अनुरूप आचरण न हो तब तक मुझे कोई शांति नहीं मिलेगी तब तक मैं ये नहीं मानता मैं विद्यावान हो गया हूं मैं इस विषय में विद्वान वो नहीं कहता इसका परिणाम ये होगा वो जब तक उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेगा आचरण वाली को तब तक अपने आप को विद्वान नहीं मानेगा और जब तक वो विद्वान नहीं मानेगा तो विद्या का नाश करता जाएगा आगे बढ़ता जाएगा विद्या से झंझट और युद्ध चलता रहेगा यदि ऐसी स्थिति है तो वो विशुद्ध विद्वान बन जाएगा नहीं तो नहीं बन पाएगा आप अध्ययन करो निरीक्षण कर लो इन कसौटियों पर तो आपको पता चल जाएगा कि विद्या का स्वरूप अविद्या का स्वरूप और विद्या का स्वरूप सामने आता है तो अंतिम रूप क्या है विद्या का अविद्या का जो स्वरूप है उससे व्यक्ति की क्या स्थिति रहती है ये दोनों और अविद्या को हटाने के लिए विद्या प्राप्ति के लिए मुझे क्या क्या कुछ करना चाहिए अब फिर आपको पता चलेगा उसको हम मोटे दृष्टांत में यदि कहें तो यूं कहेंगे कल्पना कर लो थोड़ी सी एक विद्यार्थी पूरे भूगोल में गणित भूगोल खगोल में दर्शन में वो सबसे प्रथम स्थान प्राप्त करना चाहता एक व्यक्ति एक अथवा और मोटे रूप में एक खिलाड़ी है तीरंदाज है वो पूरे भूगोल में उस क्षेत्र में सबसे प्रथम स्थान प्राप्त करना चाहता है और छह मास में एक वर्ष में ये प्रतियोगिता होने वाली है कल्पना कीजिए उस व्यक्ति की जो स्थिति होगी वो लगभग आपकी होगी अब बताओ क्या समझ में आया उदाहरण तो समझ में आया नहीं आया है क्या क्या जो खिलाड़ी का उदाहरण जो आपने दिया हम्म। तो उस समय वो उसकी प्रतियोगिता को सामने लक्ष्य को सामने रख करके अत्यंत तो पुरुषार्थ करेगा कितना सावधान होगा और दिन रात कैसे वही दिखाई देगा उसको और नहीं दिखाई देगा गौण है सब भोजन कैसा मिल गया ये भी गौण है <laughs> उसको सारी बातें गौण है उसके लिए एक ही बात है उसने यहां आना और उसके लिए जो एडी से चोटी टिका जोर लगाएगा खाना पीना भी बड़ी कठिनाई से होगा उसका पहलवानों की भी यही बात है ये लौकिक उदाहरण है वो लोक मान को धन को लेकर प्रवृत्त है ये ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रवृत्त है दोनों के लक्ष्य मंत्र क्या समझ में आया ये ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है करवाना चाहता है इसका लक्ष्य ये अब बताओ नहीं समझ में आया तो बोलो बोलो ये सकाम कर्मी है वो निष्काम कर्मी है दोनों मंत्र यदि उसकी ऊंची भावना हो तो वो रखेगा कि जैसे मैं प्राप्त करना चाहता हूं प्रथम स्थान औरों को भी प्राप्त हो ऊंची भावना होगी तो होगा ये ऊंची भावना होगी और भी ऊंची ना होगी तो वो चाहेगा औरों को स्थान नहीं मिले रोड़े आ जाए बाधाएं आए ऐसे न आ पाए नीचे की भावना होगी तो ऐसा करेंगे परंतु आपके अंदर ये जुड़ जाएगी ये चीज जो मैं जोड़ रहा ये जो खिलाड़ी के साथ आप में यदि बात जुड़गी तो आप धराशाई हो जाएंगे सफलता नहीं मिलेगी आपको अब ये मन स्थिति को बनाना कोई साधारण बात नहीं है पर असंभव भी नहीं आप आत्मा इन कामों को करने वाला असंभव भी नहीं है पर इतनी साधारण बातें नहीं है ये आदर्श मानव की बातें आदर्श व्यक्ति कैसे बनता आपको समझ में आ जानी चाहिए और फिर वो आता है श्रवण मनन निधि साक्षात साक्षात्कार उसके प्रयोग होंगे तो आप वैसे ही बन जाएंगे इतना सुनाने पढ़ाने पर भी आप तद अनुरूप प्रयत्न नहीं करेंगे तो आप वैसे नहीं बनेंगे दूसरा स्तर होगा किसी मध्य कोटि का होगा कुछ तो बनेंगे ये नहीं कि कुछ नहीं बनेंगे अपना अपना स्तर आपका रहेगा आदर्श रूप में नहीं आ सकते जिसको हम कहते हैं योगी ऋषि तत्ववेता ईश्वर साक्षात्कार करने वाले जैसे होते हैं वैसे नहीं बन पाएंगे मध्य स्तर के लोग होना सामान्य स्तर के जीवन पर रहना लौकिक स्तर पर रहना ये स्तर तो बनेंगे आप पढ़ा भी देंगे कुछ पढ़ भी देंगे लेखक भी बन जाएंगे अध्यापक भी बन जाएंगे ये बातें तो कर सकेंगे आप इसमें बाधा नहीं आएगी पर आदर्श स्थिति है जिसके लिए मनुष्य जीवन मिला और ईश्वर का आदेश है मुझे प्राप्त करो वो अवस्था नहीं मिलेगी ये स्थिति प्राप्त करता हुआ व्यक्ति दूसरों के प्रति उसकी जो भावना होती है वो बहुत ऊंची होती है आदर्श व्यक्ति बहुत ऊंची भावना होती है जो विद्वान योगी बनना चाहता है उसकी भावना कैसी रहती है दूसरों के प्रति उसकी भावना ऐसी रहती है कि मेरी हानि हो जाए कोई बात नहीं अब दूसरे व्यक्ति को हानि नहीं हो जाए दूसरे व्यक्ति को बहुत बार प्रथम स्थान देता है इतना ऊंचा विचार होता है जो आप ये कहते हैं आदर्श रूप में हिंसा का पालन करना कितनी ऊंची भावना उसकी होगी और ये भी याद रखिए जो सर्वदा सर्वथा मन वचन कर्म से प्राणियों के प्रति बैर भाव छोड़ता उसकी बुद्धि का जो विकास होता है उसकी बुद्धि की जो उन्नति होती है उसकी बुद्धि में जो पवित्रता आती है उसकी बुद्धि में जो सूक्ष्म बातों का परिज्ञान होता है वो दूसरे व्यक्ति को नहीं हो सकता इतना विज्ञान बढ़ता गया आपके मन में दूसरे के प्रति थोड़ी सी ईर्षा हुई वही बुद्धि नष्ट होनी आरंभ हो जाएगी अब देखो अब इन बातों को इस रूप में आप नहीं पकड़ेंगे और प्रयोग नहीं करेंगे तो आदर्श व्यक्ति के रूप में आप नहीं आ पाएंगे मध्य कोटि के रहिए सामान्य व्यक्ति रहिए यह ठीक बात है संसार के लोग दूसरे आपके साथ झूठा व्यवहार कर सकते हैं छलकपट का प्रयोग कर सकते हैं स्वार्थी बन सकते हैं आपको हानि भी पहुंचा सकते हैं ये सब व्यापार हो सकते हैं पर आप उसके प्रतिकार में उसकी हानि पहुंचाना हानि करना ऐसी योजना बनाना उसको नीचे गिराने की सोचना उसको दुख देने की मन मनसा मन में विचार बनाना ये सब धाराएं उस व्यक्ति की नहीं चलेंगी इसका ये तात्पर्य नहीं लेना है कि कोई हमको मारने पीटने लगे तो उसकी रक्षा नहीं करना इसका इसमें तात्पर्य नहीं है उसकी तो रक्षा करनी पड़ेगी और करनी चाहिए उससे नहीं रोकना पर दूसरी स्थितियां जितनी भी हैं उनमें उस व्यक्ति के साथ छल कपट का व्यवहार करते हैं झूठा व्यवहार करते हैं बहुत कुछ होता है और वो व्यक्ति वहां सावधान न रहे तो परिणाम ये होगा कि जैसा दूसरे छल कपट का व्यवहार करते हैं वो वैसा ही करने लगेगा आप देख सकते हो बहुत सा बिगड़ने का क्षेत्र ऐसा है दूसरा उसके साथ जब अनुचित व्यवहार करता है जूठा व्यवहार करता है छलकपट का व्यवहार करता है तो वो भी मोड़ दे करके वैसा ही व्यवहार करने लगता है और वो ये मान बैठता है कि मैं ठीक कर रहा हूं पर ऐसा नहीं है स्वामी जी यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए ये लोगों को समझ में नहीं आया ये नहीं आता समझ यथा यथा योग्य उसके साथ कितने शब्द जुड़े हैं आराम से करो हाँ। सबके साथ एक तो प्रीति पूर्वक और एक धर्मानुसार और एक एक ध्याय ये सारे शब्दों को प्रीति पूर्वक को कहीं नहीं छोड़ना है <laughs> चोर को दंड देना हो तो प्रीति पूर्वक दो भाई न्यायाधीश है चोर को दंड देना हो तो प्रीति पूर्वक का सुधार होगा मैं इसलिए अपना कर्तव्य <laughs> प्रीति अब वहीं से वो द्वेष भाव के पहले है फिर कहता मैं यथा योग्य व्यवहार कर रहा हूँ यथा योग्य काम व्यवहार आज पहले प्रीति को छोड़ दिया <laughs> चलो समय हमारा आगे निकलने चला है एक ए, फिर अध्ययन अध्यापन के और दूसरे कार्य भी करने होते हैं तो ये सारी विद्याएं आप समझ लो सीख लो और उसके अनुरूप व्यवहार करो तो निश्चित बात है कि आ, आप आदर्श व्यक्ति अथवा मुख्य लक्ष्य इसको प्राप्ति करने कराने का जो लक्ष्य वो पूरा कर सकते हैं और औरों को भी वो प्रशिक्षण दे सकते हैं यदि इतना सिखाने पर आप नहीं करेंगे तो उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते आप आप कुछ न कुछ तो बनेंगे यानी कि कुछ भी नहीं बनेंगे आप उपदेशक बन जाएंगे लेखक भी बनेंगे शास्त्रार्थ भी कर लेंगे गुरुकुल भी चला लेंगे लेखक सब हो जाएगा पर आदर्श व्यक्ति नहीं बनेगा इतने परिश्रम से अब विराम